बस बेशक आप मुर्दों को नहीं सुनाते और ना आप बहरों को पुकार सुनाते हैं जब वो बहरे पीठ मोड़कर जा रहे हों